और जब आपके पास वो लोग आए जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं तो आप उनसे फरमा दीजिए तुम पर सलाम हो तुम्हारे रब ने अपनी जात के जिम्मे करम पर रहमत लाजिम फरमा ली है कि तुम में से जो शख्स नादानी से कोई बुराई कर बैठे फिर उसके बाद तौबा कर ले और अपनी इसलाह कर ले तो बेशक वो बड़ा ही बख्शने वाला निहायत रहम फरमाने वाला है